जो जिज्ञासा में शिष्य पूछ रहा है तो उस तत्व का वाचक उस और ये सावधान कर्तृक शब्द और कार्य का मतलब ये हो गया महाराज आप सावधान हो जाए मैं कुछ पूछना चाहता बोलना चाहता हूँ आप करके सुन अगली को तो सावधान करने के लिए ओम का और अथवा स्वीकृति का भी वाचक मंगन आपने ये शिष्य रूप में स्वीकार किया है इसलिए मैं आप प्रश्न पूछना चाहता इसका भी बोधक होता है अनेक अर्थ वाला है व्याख्या करो तो उसको कोई अंत ही नहीं है अनेक हुआ प्रमुख जो आवश्यक पकड़ अनुसार ये पांच अर्थ जैसे कोई भी अर्थ आप यहाँ केवल ईशितम सन प्रेषितम च मन पतती के ना ईशितम संत प्रेषितम चम मन पतती ऐसा हमें करना पड़ेगा ईशितम भूतवा भूतवा इदम मन पतती के मन केवल ईशितम मन किसके द्वारा इच्छित होने पर इच्छित होकर होने पर प्रेषितम भूतवा प्रेरित केवल इच्छित तो ही नहीं प्रेरित भी हो गया ऐसा होकर यह मन अपने अपने विषयों में जाता है किस तत्व की इच्छा और प्रेरणा से यह मन अपने विषयों की ओर बनता है कि माँ प्रतम प्राण प्रयुक्ता संग एक प्रा को भिन्न क्रम में पाठ हो परिषद में ऐसा होता है प्रयोग को मुक्त दिखा करना पड़ेगा प्रयुक्त केना प्रथमा प्राण प्रयुक्त सन प्रथम मतलब मुख्य प्रथम मतलब प्रथम पाया मुख्य जो कि शरीर के अंदर जाकर के पंचना विभक्त हो जाता है या उपप्राण जैसे दशदा विभक्त हो जाता है पंच मुख्य पंच प्राण और पंच प्राण ये सब मुख्य प्राण के अंदर जा रहे हैं महावाय विचरण जो प्राण शक्ति वो अंदर जा रहे हैं पूरा पंचदा या दशभा विभक्त दर्शन क्रियाकला को संचालन कर रहा है तो मन जो प्रथम प्राणी मुख्य प्राणी तो किससे प्रयुक्त होकर किससे प्रेरित होकर इसमें जो है भ्रमण कर रहा है जो शरीर पर निभा रहा है संभाल रहा है वो इमाम वाचन योजना और किस एवं प्रेरित होकर प्रेक्षित उनको मिलाना पड़ेगा ईशितान के साथ प्रेरितांच संत नाम वाचन बिंदी यह वाणी भी बोला करती किसके द्वारा प्रेरित होकर इस अभिष्ट वाणी को आगे बोलते हैं और कह देवा कहू देवो करके और वह कौन सा देव है जिससे युवती को प्रजोग प्रवृत्ति जिससे प्रेरित आरोप करता हुआ कि चक्षु ईश्वर के लिए अपने अपने विषयों में पतती अपने अपने विषयों में जाता पति को व्यवहार करेंगे क्योंकि व्यक्ति अपने विषयों से जुड़ जाती अपने विषयों से ये इंद्रिया कैसे जुड़ जाती है प्राचीन है सर्वेन्द्रिय मुख्य रूप से पहले ने लिया अपना मन अंत करूप लिया फिर इन सब क्रिया शक्ति प्रधान प्राण को प्रज्ञान शक्ति प्रदान अंतकरण को फिर क्रिया शक्ति प्रदान प्राण और इनको कार्य रूप से दिखाने के लिए पहले लिया और वो कर्मेंद्रिय वाणी को और उसके बच्चे सगल राग का मुख्य कारण पहले लाभ होता है जब बच्चा इधर वाले जन्म दिया रोया नहीं तो क्यों तो उसको रुलाया जाता है लेकिन वाणी की दुनिया में कुछ काम मेरे बात कैसे करेगा क्या कैसे करेगा उसको व्यक्ति रूप है उसको रुलाते हैं राग इंद्र पर प्रकट होता है फिर वो देखता है सुनता है इसीलिए चक्षु और ज्ञान गुरु को बाधित होता है तो ज्ञान पहले ज्ञान का कारण अंत फिर क्रिया का कारण प्राण कर्मेंद्रिय फिर ज्ञानेन्द्रिय इस क्रम से रखकर विचार ये सारी की जो प्रवृत्ति है किससे इच्छित होकर और किससे प्रेरित होकर ये सही अपने अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं अपने अपने विषयों को निभा रहे हैं कि कैसे हो रहा है वो आप ये नहीं ईशितम ईशितम कौन मन सेषितम इत्यावर्तिता मन पतती गच्छति स्वयं प्रति की संबंधते वह अपने विषय की ओर कैसे जा रहा है किसी इच्छित होकर प्रेरित होकर जा रहा है वह हमें बता रहा है अधिष्ठातृह असंभव इच्छा शरीर एक गणित यद्यपि शुभागो पुण्य हम आदेश में न पुनर्ग्रहण अधिष्ठात बार बार जाना इस अर्थ में जो है निषेधात्म होता है लेकिन ग्रहण पर सीधे ही यह ग्रहण करना असंभव होने इसलिए इच्छा करते हैं गरीब प्रयोग छांदस इशितम प्रयोग छांदस तस्वीर प्रतिवृत्ति योगार्थ इस धातु से आपने उत्कृष्ट कर दिया इष्टम रुपये बनता है आपने इष्टम करके बना दिया मन भी तो होता है नहीं आकार प्रसिद्ध बना दिए सूत्र नहीं और वो विपरीत कैसे दिया यहाँ आपने कैसे कर दिया ये तो रहेगा पर कहते हैं रूप प्रेरणा छांद क्योंकि छांद है समझ लो इस धातु का प्रेरणा से प्रेषितम था हो गया है अथवा प्रेषित प्रेषण विशेष विषय आकांक्षा यहाँ पर प्रेषितम इतना ही कहते तो आकांक्षा दोनों रहती इसलिए ईशितम प्रेषितम दोनों केवल ईशितम की प्रेषित यहाँ समझाए प्रेषितम को नहीं कहते ईशितम और उसी ईशितम को प्रॉपर प्रेषितम कर रहा आपने क्यों उसे किया हम कहते हैं केवल प्रेषितम कहते से आकांक्षा दूरी रह जाती क्या प्रेरित प्रेषित प्रेषण विशेष विषय आकांक्षा प्रेषणता और प्रेषण रूपि विशेष विषय की आकांक्षा बनी रहती है इसीलिए दोनों को दे दिया इच्छित होकर यदि केवल भी और कंपोज है इसकी इच्छा से प्रेरित हुआ केवल इच्छित इच्छित होने मात्र से प्रक्रिया तो होती नहीं बिना प्रेरणा का सामान्य और प्रेषकों का कर दिया प्रेरणा केवल ईश्वर मौत लेंगे तो इच्छा क्यों किया क्या किया किस लिए किया ये सब प्रश्न और जो भी प्रेरणा थी तो वहां पर भी विचार होगा किसको प्रेरित किया किस प्रकार की प्रेरणा दी यदि दोनों एक दूसरे का विशेषण विशेष भाव से प्रयोग कर दिया जाए तो इस प्रकार के प्रश्न शंका नहीं रहेगा मात्रेण प्रेषितम अर्थ विशेष निर्धारणा शिवम तो विशेषण है सभी तो केवल प्रेषित हम कई विचार को केवल प्रेषित विशेषण हीनशनाथ प्रेषणम इस प्रकार की शंका उसे दूर करेंगे शीतम में विशेषण दे दिया ऐसा देने पर जो है दोनों शंका निवृत्त हो गया कि कैसी इच्छा मात्र प्रेषितम एक अर्थ विशेष निर्धारणा किसकी इच्छा मात्र से प्रेरित हुआ अर्थ विशेषता निश्चय हो जाता है तो पूर्व पक्षी कहेगा यदि यश अर्थ अभिप्रेता यदि यही अर्थ आपके लिए अभिपसित था इष्ट है फिर तो ये कहीं से प्रयोग कर दो केवल शिवमित एतावती अभिप्रेता इष्टमित वक्तव्यम केना इष्टम इतने कहने मार्ग से ही वह अर्थ को निकल जाएगा कोई परिप्रेषितम या अधिक प्रयोग करना या प्रयोग करना निशितम का याद करने इच्छया प्रेरितम निशितम का क्या करना इच्छया प्रेरितम ऐसा पूर्वपक्ष कहता है अपेक्षा अभी नहीं अर्दाधिक अर्थाधिक और यदि स्मृति में प्रयोग खरीद दिया है प्रेषितों को तो शब्द की अधीनता के कारण से तदुपमन इच्छया कर्मणा वाचा अर्थ विशेष इसलिए का इच्छया और प्रेषितम का क्या करना कर्मणा वाचा अधिक अर्थ निकालूंगा कर्म से प्रेषित है या वाणी आदि से प्रेषित है प्रेरित तो है अर्थ विशेष का जानना उचित होता है यदि पेश अभिप्रेता सिद्धांति कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता नहीं होता तो प्रश्नाभ्यास शिष्य का जो प्रश्न उसके सामने कर्मणी वाच्य जैसे मान की जरूरत नहीं उनके शिष्य को कर्म या में कोई संशय नहीं उसको ऐसी किसी से भी हो रखा है वो जानने नहीं उनकी जो है कहते हैं भ्रष्ट सामर्थ्य क्या है तो पूछने वाला शिष्य के हृदय में क्या बात छिपा हुआ है वो बात को बता दें कि उसके मन में ये है कि देहादि संघाता कर्म कार्याज विरक्त कष्ट पूछने वाला शिष्य कैसा है इस देहादि संघात से होता और जितने भी कार्य और कर्म है इनको अनित्य समझ करके विरक्त हो चुका है इसलिए पूछे भी कर्म से प्रेरित हो या वाणी आदि से प्रेरित हो तो पूछे जगदान का कर्म अनित्य है वाणी अनित्य है मन अनित्य है तो सारे अनित्य को जानते हैं इसलिए कह रहे ये जो अनित्य है इनसे प्रेरित होकर तुम प्रवृत्त नहीं हो रही हैं सत्ता है मगर ऐसा कोई चेतन है ऐसा ऐसा चीज है जो हमें खो दुर्योधन कहता है मैं धर्म को भी जानता हूँ अधर्म को भी जानता हूँ सब जाने आएगा कोई चीज अंदर बैठा है जो हमको आचरण करने के लिए इस तत्व को जानना चाहे शिष्य उस तत्व को जानना चाहता है जो अनित्य नहीं है किंतु नित्य इन सगल अनित्यों को प्रेरणा दे रहा है इस नित्य को जानना चाहता है इसलिए कहता है प्रश्न पूछने वाले का प्रश्न सामर्थ्य यह है कि देहादि संघात से अनित्यम से कर्म का कार्य से जो व्यतीत है अतो अन्य इसलिए इन सभी जो भी नित्य वस्तु और ऊपर से नित्य वस्तु को जानने की इच्छा कर रहा है समान सामर्थ्या उपपद्य ऐसा शिष्य पूछ रहा है इसलिए ये सिद्धार्थ केवल इच्छा करना और प्रेषित का प्रेरणार्थ करने उचित है करना वाचना देविकम ये विशेषार्थ निकालना अधिक अर्थ निकालना उचित सामान्य रूप के बारे में प्रश्न विशेष प्रश्न नहीं है यह प्रश्न सामान्य रूप पुनर्भ्रम से जानना चाह रहा है इस आत्मा को जानना चाह रहा है चेतन को जानना चाह रहा है जो सकल अनित्य क्रियाकलाप करने वाले बेहद संघात का प्रेरक ये कर्म प्रेरक है वाणी में प्रेरक है ये अधिक वार्ता जो पूर्व पक्ष निकालना चाह रहा है वह करना उचित नहीं होता कि प्रश्न के अनुकूल नहीं है प्रश्न करने वाला यहाँ विरक्त है और उसको पहले से नित्य अनित्य का ये अनित्य को प्रेरक प्रश्न क्यों पूछेगा नित्यम को ये मेरा प्रेरक क्रिया नहीं ऐसा नित्य जिसको नित्य अनित्य का विवेक है वह व्यक्ति अनित्य संबंधी प्रश्न पूछेगा ही नहीं उस तत्व के बारे में पूछेगा जो नित्य इसलिए प्रश्न के सामर्थ्य को देखने से महसूस होता है यहाँ इच्छा सामान्य को लेकर के प्रेरणा सामान्य का यहाँ प्रश्न है उस प्रेरणा संबंधी प्रश्न होता है विशेष नहीं की प्रथा यदि बात नहीं मानोगी तो इच्छा वाक कर्म भी देहान गुणनाथ से प्रयुक्त तो प्रस्ताव जो इच्छा है वाणी है कर्म है इत्यादि के द्वारा कौन प्रयोग हो रहा है दिया जो विकास संघात जो ना भूल रहा है इस विषय में वस्तु तो भरपूर जो प्रसिद्ध है गुरु ने बोला शिष्य ने प्रवृत्त हुआ इसे वाणी से प्रेम हो ही रहा है यहाँ कोई नहीं बोल रहे खुद ही कर रहे मतलब अरे हमारे पिछले जन्मों का कर्म संस्कार है जो हमको ऐसे करा तो जो ये हमने समझाया कार्य मत दिया करो तो क्या करूँ अनेकों जन्मों की संस्कार मुझे वही आती है मैंने ये जान रही हूँ अच्छी तरह से कि कर्म और वाणी आदि ने भी इस शरीर संघात को हमेशा प्रेरणा दिया है और शरीर संघात से क्रियाकलाप को कराते आया हुआ है इसलिए किसी में जो मैं जानता हूँ उसकी जानी फिर प्रश्न पूछू जो लोक में आकार अवृद्ध हालिक से लेकर प्रभुत पर्यंत सभी को ज्ञात उसके संबंध में कोई प्रश्न किसी संख्या गुरु के पास जाकर नहीं पूछे पूछना वो है जो आबाल वृद्ध नहीं जानती है हालिक से प्रभुत पर्यंत नहीं जानते उस समय में पूछा इधर पूछा अरे भगवान क्यों लगाते हो तो तुझे जानता है हर आदमी है क्यों लगा भाषण ही क्यों चंदर ही क्यों क्योंकि और किसी को नहीं रखते और जो ये तीन ही क्यों चार या पांच को नहीं बदला बदला लगा ही जाता सीधे वाले तीन नहीं लगाती क्यों लगाती जानते हैं नहीं लाल दिल्ली लगे तो क्यों कागज भी रखते विशेष जिज्ञासा तभी होता है ना कि वो सामान्य रूप में प्रसिद्ध नहीं इसलिए उसके बारे में जिज्ञासा ये पूछा जाता है जो सभी ने अपने हृदय जानते हैं अरे कर्म के कारण से वाणी के कारण से एक दूसरे की प्रेरणा दे रहे हैं और सारा क्रियाकलाप हो रहा है अरे जो प्रसिद्ध वस्तु के बारे में कभी शिष्य गुरु से पूछ नहीं इसलिए कहते हैं इतर था इच्छा वाप कर्म ही विहार संज्ञात प्रेरितम प्रसिद्धम यदि प्रश्न अनंतरवश्य तो तो कहता है एवं अभी प्रेषित शब्द से अर्थ न प्रदर्शित क्योंकि प्रेषित शब्द का विशेषार्थ आपने तो कहीं दिखाया आपकी व्याख्या में इसीतम का अर्थ करके इच्छा सामान्य प्रेष शब्द प्रेषितम का अर्थ नियोगार्थे भाषिका नियोगार्थे प्रेरणार्थ में लेकिन आपने कुछ विशिष्ट बता नहीं किसके प्रेरणा किसको प्रेरणा दिया जा रहा है क्या प्रेरणा दिया जा रहा है आगे कुछ ऐसा ऐसा बुरा प्रश्न तो हो नहीं सकता सिद्धांत जैसा करना हमने हिंद से पूरा समझाया है क्या संशय बचता है कि अरे पूछ वही रहा है जिसको संशय ये पूरा ज्ञान है उसको प्रश्न भी उसका हमेशा प्रश्न पूछने वाले का प्रश्न में निश्चित रूप से कुछ अज्ञान है संशय रहेगा संशय का मतलब क्या एक विषय कोटि के विषय को अज्ञान कहीं पूछ रहा है ना हमें लेकिन तो पूछे नहीं क्यों तो जानते ही हाँ जानते हुए पूछता वो है जो परीक्षा लेना चाहता हम भी पूछ सकता है शिष्य से शिष्य की परीक्षा के लिए तो इसलिए कहते हैं कि देखो कि भाष्यकार जो है विचार कर रहे हैं यहाँ पर जो प्रश्न जो पूछा जाएगा तो संशय वाला ही पूछता है वह विशेष कथन कर ही नहीं सकता विशेष कथन जो तो दूर करेगा तो वह संशय को दूर करता है इसलिए कहते कि देखो तो कि संशय तो रखती थी एक शब्द से अर्थ विशेष उपपत्ति तो एक शब्द का जो अर्थ विशेष है ना वह उपपत्ति क्या है वो कि यथा प्रसिद्ध कार्य कारण है किसी प्रशिक्षण क्रिया संघात व्यतिरिक्त स्वतंत्र शिक्षा मात्र मनाली प्रेषित प्रदर्शनार्थम विशेषण इसलिए विशेषण दे पड़ा प्रस्तुति सिंह वाला शिष्य के मन में विचार चल रहा है कि आज दुनिया में जो प्रसिद्ध है वही हमारा प्रेरक है जो मतलब कर्म वाणी आदि अथवा क्या सबसे भिन्न संघात व्यतिरिक्त यथा प्रसिद्धम कार्यक्रम संघात से प्रसिद्धम जो यथा प्रसिद्धम जो प्रसिद्ध कर्मवाणी आदि ही इस कार्यक्रम संघात का विषयता है अथवा संघात से भिन्न स्वतंत्र शिक्षा मात्र जो स्वतंत्र है वो इच्छा मात्र से ही मनोज प्रसिद्धता हो रखा है इस प्रकार के अर्थ कर करने वाला प्रश्न को यहाँ पर पूछा गया है इस बात को दिखाने के लिए ही शीतम और विशेषितम के दो विशेषण करना था तो प्रसिद्ध है दुनिया में मेरा मन मर्जी से इधर उधर जाता तो मन मौजी बोलते हैं लोग मन मौजी मन मर्जी यही है कभी बदलेंगे कहीं भी आता है भी आता है और पाठ कहते कौन सी दुनिया को सोचता है आप चाहते हैं पाठ सुनो कोई पास सुनता नहीं नहीं कोई और चला सकता है और क्यों हो रहा है जुम्मा नहीं ऐसी बोल रही आपके हाथ में नहीं है ये आपके हाथ में होता फिर आपके यहाँ इच्छा के अनुसार पाठ सुनता नहीं सुन रहा है इसका मतलब वो अपना स्वतंत्र है ये बात तो दुनिया में प्रसिद्ध पूर्व इसलिए कहता है स्वतंत्र मना स्वयं स्वयं पद्धति की प्रसिद्ध मन जो है स्वतंत्र होता है और अपने विषय में स्वयं ही प्रवृत्त होता है किसी की प्रेरणा से प्रवृत्त नहीं होता यह बात नहीं प्रसिद्ध है इसलिए पूर्व पक्षी जो कह रहा है यह शिष्य है इस प्रसिद्धि से प्रश्न पूछना उचित नहीं होता वो पद सिद्धांत के जवाब देते हैं यदि स्वतंत्र मन प्रवृत्ति विषय विशेष आप पर शरीर से अनिष्ट चिंतन में यदि मन स्वतंत्र होता अपने प्रवृत्ति में और अपनी निवृत्ति में प्रवृत्ति विषय निवृत्ति विषय मना यदि स्वतंत्र मन यदि स्वतंत्र होता यदि उनका सर्वोच्च अनिष्ट चिंतन मिला इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने अनिष्ट चिंतन नहीं करता आज में अनिष्ट चिंतन कर रहा है मना करने पर भी मानता नहीं समझाने पर भी नहीं मानता है तो कहता है मैं क्या जान लेकिन करता जानू अनर्थ को जानते हुए संकल्प करना इसका मतलब मैं जान लिया इसलिए अनर्थ है तो मैं क्यों करेगा तो नहीं करना चाहिए यदि वो स्वतंत्र होता अनर्थ को जानने के बाद उस अनर्थ के प्रवृत्ति प्रवृत्त नहीं होना चाहिए लेकिन अनर्थ करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है जानते ही हो रहा है इसका मतलब मन स्वतंत्र नहीं कोई दूसरा उसको दोहरा रहा है अंदर की ओर दोहरा रहा है तो जान रहे अनर्थ होगा इससे लेकिन फिर भी उसके ऊपर दो तो वह कौन है जो दोहराता है वह तो कष्ट इसलिए कम होता है अतीव्र रूप में जो कार्य वार्यमाणमा भी प्रवर्तन ये वन अति उग्र कर्मों में दुख प्रदायक कर्मों में कार्यों में वार्य मानव अपनी रोकने के बावजूद शांति का संदेश देंगे समझौता करने आए माना मानी इस कर्म उसको अंदर सकते दे रहा है कि नहीं तेरे को ऐसी मौत से जीना है कि क्योंकि तरह बता दे कि घर के सभी ने मना किया इस लड़का मज्जा मज्जा काम है घर काम है फिर जाओ कहीं नहीं मैं तो सब लिया चल गया ऐसे उठवा खत्म कारण भी मना करने पर भी हो गया उसके अंदर कर्म बुरा बड़ा नौ प्राप्त न हो इसलिए ज्ञान भी कहते हैं कि मन मानवी तथा युक्त और चरिष्ठ है प्रश्न इसलिए यह प्रश्न उचित ही है क्यों शिकन इत्यादि पूछा जा रहा है से परिवार के अनुसार होने के बाद प्रार तो कर प्राणो युक्त है हम्म। यह प्राण अपने अपने व्यापार के प्रति किस प्रकार से नियुक्त हो रहा है प्रथम विशेषण को प्रथम प्राण क्यों बोला क्योंकि प्रथम ही प्राण विशेषण से आप वृत्ति प्रवृत्ति क्योंकि जो है प्राण का विशेषण प्रथम क्यों हुआ क्योंकि प्राण की प्रवृत्ति के पूर्व इंद्रियों की प्रवृत्ति यह प्राण की प्रवृत्ति ना हो इंद्रियों की काम तो लग भी मिलना चाहते हैं इस रूप में कोई भी इंद्रिय ऐसे जिस इंद्रिय में काम वहां से निकल जाए तो इंद्रिय जो काम लखवा मारते तो क्या होता है सारा स्थान चला गया प्राण वहां से निकल गया कितने जिससे का जितने ही इंद्रिय कोई भी इंद्रिय काम नहीं करते ये काम है इंद्रिया प्राण को प्रथम प्रवर्तक होने के नाते इसको प्रथम विशेषण विमान शब्द लक्षण बदंती लौकिका किससे प्रेरित होकर ये शब्द रूपा वाणी को आम जीव जनता प्रयोग करती हुई बताओ लौकिका हमने बना तथा चक्षु श्रोत्र शेष करो जो बलवान नक्ति नीति नृत्य होती है इसी प्रकार ईश्वर तो और श्रोत इंद्रियों को भी अपूर्ण विषयों में ऐसा कौन सा देव है प्रकाशवान है जो जो इसको प्रेरित कर नियोजन कर रहा है एवं विद्याया शिष्याया आह ऐसा पूछने वाला उस योग्य शिष्य के लिए गुरु गुरु आह सुनुत्तम सुनाओ तुम जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो श्रोत्य मनसो मनोयत युवाचो हवाचम सहुता प्राण चक्षुरोक्ष धीरा लोकामृता भवंती का भी मन का वाणी का भी वो वाणी यत्न जय जिससे ये स्वप्न भी अपने विषयों में प्रवृत्त हो रहा है जिसकी वजह से मन भी अपने विषय में प्रवृत्त होता है जिसके वजह से यह वाणी भी अपने विषय को शब्दों में प्रवृत्त होता है प्राण से प्राण वास्तव प्राण का भी प्राण है चक्षुषा चक्षु चक्षु का भी चक्षु ग्रहा अतिरिक्त लोका अमृता भूमि पुरुष इस लोक से जाकर अस्मात लोग आदि शरीर से निकल करके एक मरने की बात अमृता ये अमृत अतिमुच सारे अतिमुच इस विषयों से विषय बंधन से मुक्त होकर इन सबका आधार होता उस चेतन में जब स्थिर हो जाएगा और शरीर को वह त्याग देता है तो निश्चित रूप से वो अमर हो मनाली कारण कर्ण जात स्वयं प्रति प्रेरिता कथम न प्रश्न क्या था मन आदि जो कर्ण समुदाय है ये कर्ण समुदाय तो देवा स्वयं प्रति प्रेरिता कौन सा देव है जो इन सारी इंद्रियों को अपने अपने विषयों की ओर प्रेरित कर रहा है और वह किस संसार करता है कौन कर रहा है और ये किस प्रकार से कर रहा है इसके जवाब दे रहे हैं सूर्य का सूर्य कौन कर रहा है ये कर रहा है ऐसे नहीं दिखा रहा है कौन कर रहा है तो बना थे इसने तो नहीं किया हम नहीं किया दिखाया जाता है ना कौन है वो हम लोग कौन है वो स्रोत्र का स्रोत है मन का मन पानी का किसी जगत में केवल उसके जवाब क्योंकि वो कोई परिचन्न वस्तु है नहीं कोई परिच्छिन्न वस्तु है नहीं जो डंडा लेके खड़ा है और सब इंद्रियों को बोल रहे चलो अपने अपने विषय में जुड़ जाओ काम करो ऐसा बोलने वाला कोई परिच्छिन्न वस्तु अंदर होता है बाहर होता है तो दिखाई नहीं होती अंदर बाहर कहीं भी होता है अंदर बाहर कहीं नहीं सर्वत्र व्यापक है इसलिए उसको उस तरह से सिंह को पकड़ कर दिखा दिया जाए तो उसकी गौ को यही आपका गौर है करके वैसे आप आत्मा को दिखाए इसलिए कहते हैं श्रोत्र श्रोती श्रोत अभी श्रोत अने रही शब्द श्रवणम प्रतिकरण शब्द का श्रवण सुनने के जो कर्ण है ना शोध शब्द शब्द व्यंजकम श्रोत्र इंद्रिय शब्द का विगत करने वाला श्रोत्र का इंद्रिय उस इंद्रिय का भी जो स्वया प्रश्न वही है जो तुम्हारे द्वारा काम जो इंद्रिय है ये स्रोत इंद्रिय भी अपने विषयों को जो ग्रहण कर रहा है जिस कारण की वजह से जिस चेतन की वजह से ग्रहण कर रहा है वही चेतन जो तुमने पूछा इसलिए वही अपनी स्रोत ये तो सुनने वाले की गई वही चेतन हटाए उसको नहीं जाएगी और भी सुनने वाले इसमें कौन है चेतन ही उसके उपाय केवल अब उसके लिए क्या है कार्य तो सुनने का एक साधन मात्र इसलिए कहते हुए ये वो भी ये पूछा था चक्षुषो से उनको देवो ये तुम्हारा चक्षु चक्षु श्रोतन का कई देवो मुक्ति कौन सा देव है जो प्रकाशमान है जो इस समय कर रहा है ये तुम्हारा जो प्रश्न था उसका जवाब भी यही है वो स्वयं विशिष्ट श्रोता पूर्व पक्षी कहता है बोले क्या है देखो ये है आत्मा ऐसा पकड़ के दिखाओ ना पूछा जाए ये बात का बेटा कौन है अब बताओ ना पकड़ ये है जब कभी जैसे आपको बताना चाहिए असो एवं विशिष्ट को वो ये लाख रुपये बनना क्या वो ऐसे बोला ना विशेषण देकर बताओ पकड़ा उनको असो और तेरह विशिष्ट होगा इस प्रकार से श्रोतादि नियम के वक्तव्य ऐसा आपको जो बताना चाहिए था जो ये आदमी है जो अमुक रंग का स्वेटर पहन रखता है वही इंद्रियों को प्रेरणा दे रहा था ऐसा आपको बताना चाहिए ऐसे प्रश्न का जवाब वक्तव्य सती नहीं ये तो अननुरूपम अरे निश्चित रूप से अनरूप निश्चित निश्चित में प्रतिवचन श्रोत से श्रोत का स्रोत आत्मा है ब्रह्म ये कोई जवाब है ये अनुरूप जवाब अनुरूप जवाब नहीं क्योंकि प्रश्न पूछने वाला यही पूछ रहा था भाई जैसे मेरे अदायत हो गया इसमें से कौन सा मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ मुझे बताओ कौन सा गाय है तो सिंह पकड़ कर दिखा देते जो कोई तुम्हारा गाय उसके यहाँ बताना थी और आप इस प्रकार कुछ बता नहीं रहे कोई भी विशेषण से विशिष्ट होकर के नहीं बता रहे तो इसलिए प्रश्न का जवाब उचित नहीं है था विशेष अनवगम क्योंकि उसका किसी भी प्रकार का विशेष रूप में अवगम हो नहीं सकता तो सामान्य सर्वव्यापक उपायों भी विशिष्ट कर उसको ग्रहण कर सकते हैं उपाय को छोड़कर उसको ग्रहण नहीं श्रोत्र भी स्विशेष ग्रहण करने वाले कार्य की वृद्धि जो इस उपाधि का आश्रय बनकर इस उपाधि को सरकारी को करने में क्षमता को प्रदान करने वाला विधि क्षेत्र चेतन का अधिष्ठान है वो स्वत्र का आत्मस्वरूप इस रूप से उपाधि को अधिष्ठान रूप हैं उसी उपाधि को उसका लेना पड़ेगा ये क्या है पुस्तक उपनिषद का पुस्तक अरे उपनिषद क्या चीज है जो उपनिषद चीज है वो चीज तो ये है कि वही नाम प्रयोग कर दिया शब्द आत्मा रहती है ब्रह्म विद्या स्वयं स्वरूप ही हो आत्मा है ज्ञान है ब्रह्म वही उपनिषद शब्द बोलती है कहीं जो है कागजों के पन्नों की पुस्तक को बोल दिया आपने उपनिषद क्योंकि इसमें जो छपा हुआ अक्षर शब्दों के द्वारा वही लक्ष्य है तो इस लक्ष्य को भी हम वही नाम रखें उसी प्रकार यहाँ पर भी जिस चेतन के स्रोत लक्षण था उस स्रोत को भी हमने चेतन स्रोत नाम की उपाधि और उपधेय दोनों को अधेर करके व्यवहार हैं यदि ही श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्त स्व व्यापार में विशिष्टा श्रोत्रादि नियोक्ता अवगम्य यदि श्रोत्रादि व्यापार से भी वो अपनी निजी व्यापार के द्वारा विशिष्ट होता आत्मा सप्तम से बता देते जैसे जराती आदि से भिन्न घास काटने वाला स्व व्यापार फल जरात्या से भिन्न नहीं वो अपने व्यापार से भिन्न होकर काट रहा है तो कहते कोई जराती अलग है ऐसा नहीं है हाँ, और जराती को पकड़ा हुआ आदमी ये अलग है ये अपने व्यापार से प्रभुत्व पर काम कर रहा है काल में इस दरांति को इस्तेमाल किया जो व्यापार व्यापार व्यापारिता और व्यापार का साधन भिन्न भिन्न होता तो, तो हम वहाँ पर अलग बता भी सकते थे यहाँ पर ऐसा है नहीं ये उपाधि यहाँ सारा कल्पित अधिष्ठान से भिन्न हो रही है ये भिन्न हो कर मैं बता रहे सूत्र में आप जो कुछ भी देखा उसमें से तो कोई भी चीज आपसे भिन्न नहीं है कोई तो काम नहीं है तो शत्रु ने आपने बंदूक खरीदा और शत्रु पर बाहर भी दी और वो बंदूक आप नहीं मिल रहा है आप सामने शत्रु खड़ा है इन्हें बंद लाओ मारो काम नहीं है मुझे भी आपसे अलग है नहीं इसीलिए हम काम नहीं ना उसी प्रकार आप अवे करें दात्राणी प्रयोग त्रिवत दात्राणी प्रयोग त्रिवत दात्री जरार्थी में प्रयोग करने वाला उसका नाम दात्री उसके समान हम तब बोल सकते थे यदि श्रोतवाली व्यापार से भिन्न स्व व्यापार से विशिष्ट श्रोतवाली का नियोक्ता होता जराचारी के समान यदि भिन्न होता कर्म से भिन्न करता होता कहने का मतलब इसलिए शब्दों में कर्म से भिन्न करता यदि उपलब्ध होता इसलिए हम यहाँ पर बता सकते थे यही श्रोत अधिकरण है इनके ये आत्मा करता है ऐसा दिखा लेकिन ऐसा इतना ही नहीं पता कर लो पदा इधम अनुरूपम प्रतिवचन तब हमारा जवाब अनुरूप हो जाता यदि अलग होता और मैं उसको दिखाता नहीं तो मेरा जवाब गलत माना जाएगा कर्म से भिन्न करता जैसे जरांति से भिन्न उसे प्रयोग करने वाला होता है उसी प्रकार से श्रोत्रियों इंद्रियों से भिन्न कोई आत्मा नाम का चीज अपने व्यापार से सफल कार्य करने में सक्षम होता और मैं उसे पृथक करके नहीं बताऊंगा तो मेरा जवाब अनुमोदित होता लेकिन आत्मा ऐसे श्रोत्रादि इंद्रियों से गुल्लत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं अतीव हम उसको भिन्न कर कथन नहीं करते जो युवा मैंने दिया ये उपाधि जिस अधिष्ठान में परिचिन होकर अपना कार्य करने में सक्षम है उस उपाधि का वो अधिष्ठान चेतन ही ब्रह्म है ऐसे तो लोग उपाधि के द्वारा उस अधिष्ठान को उपाधिवाद शब्द से लक्षित कर रहा हूँ तो वो अनुरूप जवाब नहीं है विग्रह का लगती है श्रोत्रादि नाम प्रयुक्ता स्वर्णाकार विशिष्टो नृत्यादि अधिगम्य क्योंकि श्रोत्रादियों का प्रयोक्ता स्वरूपा से विशिष्ट होकर ललित्रादि के समान कर्म से भिन्न करता अधिगम्य नहीं इसलिए श्रोत्रादि नाम एवं सिंहता नाम व्यापारे आलोचन संकल्प व्यवसाय लक्षण में अवसाय इंजन अवगम्य होते वास्तव में इंद्रिया इंद्रियाणाम सब यही गया पात्र उद्दिष्ट सारे मिलकर काम करते जो भी कार्य हो रहा है एक व्यापार को लेकर के ही सारे के सारे जुड़ जाते हैं अलग अलग व्यापार में सब भागने लग जाएंगे यहाँ तो सारा काम बिगड़ जाएगा शरीर अब देख भी रहा हूँ सुन भी रहा हूँ पढ़ भी रहा हूँ मान लो उपयोगी सारी इंद्रिया मिल करके एक काम लोग बज रहे हैं मुख्य कार्य एक है कुछ अन्य सब उसको सहयोगी दे रहे हैं देंगे तो सहयोगी क्या है सुनना स्वर्ण नहीं से सहयोग दिया आप तो आप में सहयोग दे रहा है आप देख रहे हैं कभी मुझे देख रहे हैं पुस्तक को देख रहे हैं पंखी देख रहे हैं क्या वो आम स्वतंत्र कुछ नहीं कर रहा है इस समय इस समय स्वर्ण की कार्य कर रहा है आयु को भी संयोग देता है अभी इंद्रियों सटा देता है वो अपना कोई कार्य नहीं करता नहीं कर रहे तो गुजरा रहे हाथ कर रहे अपना काम लेकिन काम अपना सुनने में छोड़ा नहीं गम कहीं भी झड़ देते गुजरा रहे फल लग गया इधर कर रहे पैर कर दिया अन्य कर्मिंद्र भी काम कर रहे लेकिन इंद्रियों में कार्य होते भी ये इंद्रिया अपना कार्य को स्पर्श नहीं करते हैं जब इस शरीर से संघात से है मुख्य व्यापार में बाधा हो मुख्य व्यापार को बनाए रखते हुए अब ये सारी इंद्रिया अपनी जो कुछ व्यापार कर रहे भी हैं उसको सहयोगी जरूर करते हैं इसलिए कहते हैं इस का संपूर्ण जो संघात है वो क्या है व्यापार क्या व्यापार है उनका आलोचन संकल्प और व्यवसाय आलोचन नहीं है अपने अपने ज्ञान इंद्रियों अपने अपने विषय को ग्रहण करना वही आलोचन और मन का संकल्प है बुद्धि का अधिकता है इन व्यापारों के द्वारा फल रसान ये कैसे आपने जाना ये व्यापार हुआ है फल क्योंकि हमने सुना हमें कैसे मालूम हुआ क्योंकि शब्द का मुझे ज्ञान हो गए शब्द का मुझे ज्ञान ना हो पर शब्द ही ज्ञान ना हो तो भाई कहीं हो सकता है कि मैंने कोई चीज सुना या सकता है आपने कुछ सुना आपने हाँ तो क्या सुना आप बोले कि नहीं बोले एक चीज मैंने सुना तो इसीलिए कोई भी इंद्रिय अपने प्रति व्यापार कर रहा है ये कैसे ज्ञात होता है कार्य क्या और अवसान न कार्य कार्यावसान लिंगे अवधन अस्थि ही श्रोत्र असंहतो यज्ञ प्रयुक्त श्रोतादि कला को गृहादि इनकी जो है श्रोतादि असंहत ऐसा कोई चीज मानना पड़ेगा अब इन श्रोत्रादियों से भिन्न गृह उनके व्यापार से ही भिन्न हो श्रोत्र से भिन्न है श्रोत्रादि का व्यापार से भिन्न है और श्रोत्रादियों का अपनी व्यापार जन कार्य से भी भिन्न ये संभाग इंद्रिया उनका समूह उनका व्यापार व्यापार जनिक कार्य इनको लेकर के जीवन चलता है ये संभाग है एक समुदाय जैसे मकान में खिड़की दरवाजा अलमेरी सब अपने जो है वो सब मिल करके मकान केवल अलमारी मकान नहीं केवल खिड़की को भी मकान लगाया जाएगा केवल दरवाजे को भी मकान नहीं कर सकते केवल ईट भी नहीं केवल रेत भी नहीं केवल सीमेंट भी नहीं ये सारे मिलकर एक संधा संस्थान विशेष रूप धारण कर लिया तब आपने उसको मकान कर दिया इसी प्रकार ये सब संस्थान विशेष रूप पंचभूत अपने इंद्रियों को लेकर सारा मिल करके अपने व्यापार विशेष के द्वारा एक समुदाय को धारण कर लिया इसी का नाम संघात लेकिन ये जो संघात किसी संघात के लिए मकान के लिए मकान के लिए बनाना मकान को मकान के लिए मकान बनता ही क्या प्यार के लिए मकान बनता है मकान के लिए मकान तो कोई बनाता नहीं है इसी के लिए मकान होता है और जितनी होता है उस मकान के संघात के प्रत्येक अवयवों को वह धुन होता है प्रत्येक व्यापार से धुन होता है खिड़की का व्यापार से आप भिन्न है खिड़की से ही भिन्न है खिड़की का व्यापार से भिन्न है और उससे हमारा कार्य भिन्न दरवाजे इसलिए भिन्न है दरवाजे का व्यापार भी नहीं है और दरवाजे के व्यापार कार्य से भी भिन्न है आप खुलते नहीं कोई आने के लिए दरवाजा खुलता है आपका आने के लिए दरवाजा खुलता है दरवाजा है उसे भिन्न होता है इसलिए कहते हैं श्रोय पर्सनाल अनुपम प्रतिवचन क्यों संहता नाम करार अवगम्य श्रोत्राभिराम कोई भी संघात है वो अवश्य ही होता है संघात से परार्थ का नियम संघात जो होता है वह दूसरे का प्रयोजन प्रसिद्ध करने के लिए होता है वह तो संघात के लिए ही नहीं होता है आंख आंख के लिए नहीं होता है आंख हमारे लिए होता है कान कान के लिए नहीं होता कान हमारे लिए होता है तो वो जो मैं कौन तो कान से भी भिन्न हो आम से भी भिन्न हो मन से भिन्न हो बुद्धि से भिन्न हो उनके व्यापारों से भिन्न हो उन व्यापार से कार्यों से भी भिन्न नहीं वो संघातों का उपयोग कर रहा है जिन सबसे भी होता है वही उनका उपयोग कर सकता है जो भिन्न नहीं हो सकता पकड़ उपयोग नहीं कर सकता इसलिए करते कि देखो ईश्वर संहदाराम सकता अवगम्य के श्रोत राजनाम ये सब हो जाता है इस श्रोत्राजियों का प्रयोग का कोई व्यक्ति ऐसा है जो श्रोत्राजियों से लेकिन वह किसी विशेषण से विशिष्ट हम लोग जैसे हाथ पैर वाले इस मकान से अलग है ना और इकट्ठे आते जाते हैं वैसे कोई आत्मा नहीं है जो आता हो जाता हो ये शरीर और इंद्रिया से भिन्न है यदि वो भी ऐसा हो तो पकड़ के दिखा देते वो ऐसा नहीं है अनुरूपम एवं प्रतिवचन श्रोत्र इसलिए ये जो जवाब है प्रतिवचन तो अनुरूप ही है इस श्रोत्र से कहा पदार्थ शब्द शब्द जो तो पक्षी पूछता है इस परिकार क्या श्रोत्र से श्रोत्रम मनरो मन इत्यादि शब्दों का पदों का क्या अर्थ का पदार्थ नेत्र श्रोत्र श्रोत्रांतरेणार्थ तीन श्रोत का कोई दूसरा श्रोत है ऐसा अर्थ तो तो ज्यादा श्रोत ये श्रोत यदि मैं नहीं हूँ तो प्रेरिता नहीं हूँ ये श्रोत यदि दूसरा श्रोत इस श्रोत को प्रेरणा दे रहा है और दूसरे दो श्रोत्र को कौन प्रेरणा देगा लेकिन तीसरा और तीसरा से नहीं चलेगा तो अनुस्था भी शुरू रहेगा इसलिए एक श्रोत्र के लिए दूसरे श्रोत्र प्रेरणा दे रहा है ये कोई इस मंत्र के द्वारा इष्ट नहीं हो सकता इसलिए हम पूछना चाह रहे हैं श्रोत्र से श्रोत इत्यादि क्या अर्थ यथा प्रकाश है तो प्रकाश यदि एक प्रकाश के लिए दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती उसी प्रकार यहाँ पर लोगों को मानना पड़ेगा नहीं तो हमारा प्रदेश से व्रत हो जाएंगे सिद्धांत की जगह देश देशो अयमत हो यहाँ अनवस्थ देश ग्रस्त होंगे करने के पदों से स्पष्ट समुदाय किया क्या स्व विषय मंदिर समर्पण दृष्टि स्रोत इंद्रिय जो है अपने विषय को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता हुआ देखने मिलता है क्योंकि भावत में कहीं भी आ जाते तो हमेशा लगा लेते और उसको और समर्थ बनाए रखते हैं लेकिन ताकि हम सुने तो इसलिए ये बात अनुभव सिद्ध है कि श्रोत जो है अपने व्यापार से अपने विषयों को अवश्य ही अभिव्यक्त करता है अच्छा स्वर विषय सामर्थ्यम वो जो श्रोत्र का अपने विषयों का अभिव्यक्त करने का जो सामर्थ्य है वह श्रोत्र का अपना नहीं है उसमें आया है बाहर से कहा से आया श्रोत्र से चैतन्य ही आत्म ज्योतिष असमर्थे सर्वांतरी भवती नाश तो तब हो सकता है श्रोत के अंदर जब चैतन्य का होने पर आत्मज्योति का होने पर नित्य वस्तु का होने पर जो संघात से भिन्न होने पर असम सर्वांतरित तो सकल संघात में सूक्ष्म रूप से विद्यमान वही पूरे संघात को संचालन करता